आसमां पे झूमते हम बादलों में घूमते हम आसमां पे झूमते हम बादलों में घूमते हम जीत अपने बांटते हम प्रीत अपने छाटते हम वक्त ऐसा काटते हम वक्त ऐसा काटते हम बेजुबा हम बेपना हम बेजुबा हम बेपना हम सख्त रोटी की तरह हम जख्म जोरों का सफ़र हम जख्म जोरों का सफ़र हम जख्म जोरों का सफ़र हम हैं टूटे इस तरह रहा न आसमां बोटी में हम कटे सर हमारे फटे मैंने ना ये जाना ये जिस्म मेरा कटे ये जिस्म मेरा कटे ये जिस्म मेरा कटे मीठा सा मैं जिया खारा सा हो गया दुनिया की रौनक में नारा सा हो गया नारा सा हो गया धागे वो प्रीत के पलकों को खोलते आशाएं मीत के दिल से यूं बोलते जलता हूँ लाल मैं करता हूँ प्यार मैं तू अब तो पास आ तन्हाइयों मैं जिया मकसद में तू ही है हसरत में तू ही है मकसद में तू ही है हसरत में तू ही है आंधी ने ना सुना पल भर भी दासता पर कोई ना हुआ जीता यूं मैं धुआ जन्नत की चाह में दुनिया की राह में खारा सा मैं हुआ नारा सा मैं हुआ खारा सा मैं हुआ नारा सा मैं हुआ हरियाली झूमती पत्तों को चूमती सांसों में वो घुले जख्मों को मिल गले सांसों में वो घुले सुबह के रंग सा औरत के अंग सा दिल ये मासूम था दिल ये मासूम था पर किस्मत बेवफा जहरीला हो गया दुनिया की राह में नारा मैं बन गया नारा मैं बन गया नारा मैं बन गया नारा मैं बन गया